उसने कहा ए मेरी कौम क्या तुमने देखा अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी जनाब से अच्छा रिस्क अदा किया है और मैं इरादा नहीं रखता कि मैं तुम्हारे बर खिलाफ वो काम करूँ जिनसे मैं तुम्हें रोकता हूँ जहाँ तक मैं कर सकूँ मैं तो इसलाह का इरादा ही रखता हूँ और मेरी तोफ़ी अल्लाह ताला ही की तरफ से है उसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी की तरफ मैं रजू करता हूँ